आज अब्दुल्ला काफी अरसे बाद मुफ्ती साहब के पास आया वो किसी से बात कर रहे थे कहने लगे अगर कोई शख्स ये चाहे कि फला शख्स अपने इख्तियार असर रसूख या दौलत की वजह से मेरे हलके में आ जाए या मेरा मुरीद बन जाए तो ये बात तरीकियत में शिरक है अब्दुल्ला तो गोया इंतजार में था इसने सवालों की पोटली फिर खोल दी मुफ्ती साहब झूठ क्या है कायनात का सबसे बड़ा झूठ मैं है आदमी सारे बुत तोड़ देता है इल्म का दौलत का शोहरत का अमारत का उहदे का शिरक का मगर अपनी जात का बुत बना लेता है और उसे पूजना शुरू कर देता है और उसका टेस्ट यही है कि खिलाफ मामूल कोई काम हो जाए कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो पहला ख्याल यही आता है कि कल से किसी को अल्लाह की तरफ नहीं बुलाऊंगा दावत नहीं दूंगा पढ़ाऊंगा नहीं अपने करतूत ऐसे और नाम अल्लाह का ये हुआ यूं कि वो पहले रोज ही से अपना पेट भर रहा था और अपने लिए ही काम कर रहा था अल्लाह के लिए तो था ही नहीं अब्दुल्ला को दुनिया घूमती हुई महसूस हुई वो उठ के वापिस चला आया अब्दुल्ला ने अपने आप को कुछ दिनों के लिए कमरे में कैद किया और शुरू से हर बात का जायजा लेने लगा कि हुआ क्या है इसे एहसास हुआ कि इसने विजन बनाकर तमाम उन लोगों की गर्दनें उतारने शुरू कर दी थी जिनका विजन बजायर कुछ ना हो और वो खुद परस्ती के ऐसे गर्दाब में फंसा चला गया जिसका अंदाजा इसे खुद भी ना हो सका मुफ्ती साहब के दो जुमले इसके कानों में जहर खोल रहे थे मैं का नशा एक रात में उतर जाता है मैं का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता और मरने के बाद सबसे पहले जो चीज छिन जाती है वो इख्तियार है साड़ी अक्कड़ फूफा टाटा सब गई अब कर लो बात जैसे जैसे अब्दुल्ला सोचता गया वैसे वैसे इसकी हालत गैर होती चली गई इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और बिल्लो अंदर आए अब्दुल्ला की हालत देखते ही बिल्लो ने पूछा अब क्या है अब्दुल्ला अब क्यों परेशान हो किस ट्रक की लाल बत्ती के पीछे भाग कर आए हो और अब्दुल्ला बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा जिस बात का जवार भाटा थमा तो बिल्लो ने कहा देखो अब्दुल्ला सबसे पहले तो धीमे हो जाओ तरबियत नेस्ती को कहते हैं मैं कुछ नहीं से बेहतरी का आगाज होता है अपने आप पर काम करो जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसे आके माँ बाप को बताना नहीं पड़ता बल्कि मोहल्ले वाले आकर बता जाते हैं मेरे ख्याल में जब तुम इस काबिल हो जाओगे कि काम लिया जाए तो अल्लाह की जहां से बुलावा खुद ही आ जाएगा इतनी भी क्या जल्दी है लोगों को हकीर मत जानो गुनाकारों की इज्जत करो गुना भी तो एक ताल्लुक ही है अपने रब से जिस अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम दिया है उसी अल्लाह ने किसी को कहीं और रख छोड़ा है खुदाई कामों में इल्लत ना ढूंढा करो उसका फजल किसी वजह का मोहताज नहीं होता अब्दुल्ला कभी कभी कोई शख्स कुछ ना करके भी अपना हिस्सा डाल रहा होता है उसकी मिसाल मैच के उस खिलाड़ी की सी होती है जो पूरा मैच कुछ नहीं करता जिसे तुम्हारे जैसे लोग विजन लेस मखलूक कहते हैं मगर फिर आखिरी बॉल पर लगने वाली बाउंड्री का छक्का उसके हाथों में आके गिरता है और वो सुरखुरु हो जाता है अब्दुल्ला गुना भी तो अल्लाह की नेमत होते हैं ये बंदे को बंदा बना के रखते हैं गुना हो ही ना तो बंदा ओतार बन जाए मैं तो गुनागार बंदी हूँ मगर पता नहीं क्यों लगता है कि पुरसकून कल वालों की तहजद से नदामत में तरपने वालों की रातें ज्यादा मकबूल होती हैं अब्दुल्ला कान खोल के सुन लो मंजिल तो बेवकूफों को मिलती है अक्लमंद आदमी हमेशा सफर में रहता है अब्दुल्ला को बिल्लो से इस किस्म की गुफ्तगु की कतन उम्मीद ना थी वो हैरत के झटके से बाहर निकला तो कहने लगा अल्लाह की वली तुझे ये सब कुछ किसने सिखाया बिल्लो ने हंसते हुए कहा क्यों क्या अल्लाह सिर्फ तुम्हारा है क्या किसी और को मांगना नहीं आता क्या कोई कुआं देखा है जिसमें पानी बाहर से डालते हो इल्म हमेशा अंदर से आता है बाहर से तो मालूम मिलती हैं और मुफ्ती साहब भी सिर्फ तुम्हारे थोड़ी हैं इनके लेक्चर्स मैंने तुमसे ज्यादा सुने हैं अब्दुल्ला एक काम करो उम्र में चले जाओ शायद तुम्हारा दिल कुछ हल्का हो अब्दुल्ला को आज पहली बार एहसास हुआ कि हंसती मुस्कुराती शरारती करती बिल्लो अंदर से कितनी गहरी है और अपने आप की जुस्तजू में इसने आज तक बिल्लो को देखा ही नहीं कितने सुलझे हुए तरीके से हमें उलझन में डाल जाते हो आज अब्दुल्ला का दिन ऑफिस में अच्छा नहीं गुजरा वापसी पर वो सीधा मुफ्ती साहब के पास पहुंच गया और कहने लगा मुफ्ती साहब ये लोग इतना तंग क्यों करते हैं ना काम करते हैं ना करने देते हैं किस मुसीबत में फंस गया हूं अब्दुल्ला जैसे पैसों की जक़ात होती है बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के फजल की या सक्सेस की भी एक जक़ात है और वो ये कि लोगों का जुल्म झूठ और हसद बर्दाश्त किए जाओ और ये ऐसे नहीं कि साल दो साल में कोई वाकिया पेश आ जाए ये ऐसे बरसता है जैसे कि मानसून में बारिश तुम जक़ात दिए जाओ अल्लाह का फजल भी मैना बन के बरसेगा हाँ मुफ्ती साहब मगर जो तन बीते वो तन जाने ये तो है अब्दुल्ला पाकिस्तान में चीन चीजें हराम हैं सुअर का गोश्त पढ़ना और सच बोलना इन तमाम बातों से वास्ता तो पढ़ना ही है अच्छा एक बात बताएं ये कैसे पता चले कि बंदा जो कुछ भी कर रहा है वो सही रास्ते पर भी है कि नहीं जब कोई बंदा सही रास्ते पर होता है तो तीन में से एक काम होता है नंबर एक अल्लाह उसका दिल किसी काम के लिए खोल देता है और फिर दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ वो सिर्फ वही काम करता रहता है नंबर दो उसका जिस बंदे से ताल्लुक होता है वो उससे जाकर पूछता है कि क्या करूं तो अल्लाह उसके टीचर या शेख के दिल में कोई बात डाल देते हैं वो उसे वही मशवरा देता है और बंदा काम से अलग हो जाता है या काम में लग जाता है तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है बंदा बड़ा कमजोर होता है अल्लाह को पता होता है कि किसी काम में डाल दे तो बहक जाएगा अब ये बंदा तमाम उम्र टोया मारता रहता है और कोई बड़ा काम नहीं कर पाता मगर जब मरता है तो फला पा जाता है अच्छा ये बताएं टीचर और उस्ताद कौन होता है नलका देखा है कभी आपने धूप में गर्मी की शिद्दत से तड़प और तप रहा होता है अब कोई आदमी आए और इसमें से ठंडा पानी निकले तो बंदा कितना खुश होगा मगर अगर नलके की जबान होती तो बंदे का शुक्रिया अदा करता के तू आया तो मेरे में से भी पानी गुजर गया इसी तरह हर तालब इल्म अपना रिस्क लेकर आता है ये उसकी तलब है जो पानी खींचती है टैंकी में से नलके को अतराना नहीं चाहिए अगर मांगने वाले हाथ ना रहें तो देने वाले का मसरफ नहीं बचता बस अल्लाह से मांगते रहें जैसे पेट्रोल पैसा खर्च हो जाता है इसी तरह रूहानियत भी खर्च हो जाती है फिर आप लोगों से मिलते हैं तो वो आपको कंज्यूम कर लेते हैं बंदे को चाहिए कि रात की तन्हाई में अपने रब से कनेक्ट होके चार्ज हो जाया करे अच्छा तो ये बताएं कि रहबर मेंटोर का इंतखाब कैसे किया जाए चंद बातें देख लें नंबर एक तरबियत कहाँ से हुई है किससे कहाँ पड़ा है तरबियत के लिए जिंदों के पास जाना ही पड़ता है नंबर दो तकवा और जिक्र से वास्ता हो नंबर तीन किताबें पढ़ता हो आसपास मौजूद माशरे के उतार चढ़ाव का इल्म हो नंबर चार इसके पीछे कोई ना कोई टीचर जरूर हो खुद से इस फील्ड में पुख्तगी नहीं आती अब्दुल्ला मुफ्ती साहब ने बात जारी रखी सोहलिया से पहले मसलिया बनने का शौक ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि उसे बेटे से पहले बाप बनना है ऐसा आदमी एक पूरे हलके को बर्बाद कर जाता है मुफ्ती साहब कैसे यकीन आए कि बंदा जो कुछ कर रहा है बस ठीक है और दिल एक तरफ हो जाए यकीन का ना आना ही बेहतर है ये डरो खौफ रहे कि जो कुछ भी कर रहा है पता नहीं कबूल होगा भी कि नहीं बड़ी अच्छी चीज है इसी उम्मीद और खौफ के बीच जिंदगी गुजर जाए जवानी में खौफ गालिब रहे तो बुढ़ापे में उम्मीद यकीन का ना मिलना ही अच्छी बात है अच्छा अब आखिरी सवाल जी फरमाए मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं मैं क्या करूं? कमरा बंद करके कुंडी लगा के बैठ जाएं, अपने आप पर काम करें जिस फील्ड में आप हैं उसमें कमाल हासिल करें और फिलहाल बाकी सारी फिक्रें छोड़ दें अब्दुल्ला की जिंदगी में अब काफी ठहराव काफी धीमापन आ गया था अब उसने घर और बच्चों पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी कुछ दिनों में बड़े बेटे का रिजल्ट आ गया अंग्रेजी और रियाजी में नब्बे फीसद से ज्यादा मार्क्स जबकि उर्दू में सिर्फ चालीस फीसद बिल्लो ने अब्दुल्ला से कहा कि कोई ट्यूटर ला दो अब्दुल्ला अंग्रेजी और रियाजी पढ़ाने के लिए ट्यूटर ले आया बिल्लो ने खूब सुनाई कि मार्क्स तो उर्दू में कम हैं। अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि हम अमूमी तौर पर एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी का ख्वाब देखती हैं हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में भी टॉप करे और खेल में भी ड्रामा भी करे और बैतबाजी भी बच्चों पर रहम खाना चाहिए इंसान के बच्चे हैं फैक्ट्री में थोड़ा ही बने हैं मुझे अब्दुल रहमान को गालिब या इकबाल नहीं बनाना मगर इंग्लिश में शेक्सपियर जरूर बने रियाजी में पॉल और डिश बन जाए जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करते हैं वीकनेसेस को फिलहाल छोड़ देते हैं मिल्लो को इस बार भी अब्दुल्ला की तक समझ ना आई मगर वो हंस के खामोश हो गई चलो इस बहाने ये बच्चों में दिलचस्पी तो ले रहा है अब्दुल्ला ने अब तीनों बच्चों को घर में खुद भी पढ़ाना शुरू कर दिया था और वो साथ साथ उन्हें कुरान पाक की तलीम भी दिला रहा था मगर वो इस्लामी तलीम से कुछ मुतमिन ना था एक दिन अपने एक दोस्त से जिक्र किया जो किसी यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर थे अब्दुल्ला ने कहा प्रोफेसर साहब मैं बच्चों की दुनियावी तालीम से तो मुतमिन हूँ मगर दीनी तालीम से नहीं मौलवी साहब सही नहीं पढ़ाते मैं क्या करूं अब्दुल्ला तुम बच्चों की स्कूल की फीस भरते हो जी पचास हजार फी बच्चा तो एडमिशन के दिए हैं नौ हजार महाना अलग तो सताइस हजार फीस है तीन बच्चों की स्टेशनरी और ट्रिप का खर्चा अलग और आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन कुल कितना हुआ प्रोफेसर साहब ने सवाल किया अब्दुल्ला कुछ ना समझते हुए मुतजिब लहजे में बोला कोई पैंतीस से चालीस हजार होंगी अच्छा और मौलवी साहब जो घर पढ़ाने आते हैं उन्हें क्या देते हो जी पंद्रह सौ रुपए महीना तीनों बच्चों के अब्दुल्ला ने शर्मिंदगी से जवाब दिया तो भाई सीधी सी बात है कोई ऐसा मौलवी ढूंढो जो एडमिशन के डेढ़ लाख ले फिर कम अज कम पंद्रह हजार महीना फिर देखो दीनी तालीम कैसी हो जाती है अब्दुल्ला शर्मिंदा घर लौटा और मौलवी साहब तब्दील कर दिए आज अब्दुल्ला बहुत खुश था उसे आज ऑफिस से उम्र की छुट्टी मिल गई थी कुछ ही रोज बाद अब्दुल्ला बिल्लो के साथ उम्र पर जा रहा था अजीब सी कैफियत थी शर्मिंदगी भी यासियत भी उम्मीद भी और डर भी रास्ते भर सोचता रहा कि क्या दुआएं मांगेगा काबा अल्लाह पर नजर पड़ते ही क्या कहेगा सुना था लोगों को रोना आता है गशी तारी हो जाती है मगर अब्दुल्ला को ऐसा कुछ ना हुआ एक अजीब सा सुरूर था जो उसे महसूस हो रहा था उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका मन जा रब्बा मन जा मेरे रब्बा हाथ जोड़ के तुझसे तुझी को मांगने आया हूँ मुराद ना लुटाना सखी की शान होती है के पकड़ ले जो छोड़ दिया करता है पूछियो नहीं मेरे अल्लाह पूछना मत हिसाब मत लेना अल्लाह ऐसे ही छोड़ देना तवाफ में अब्दुल्ला तरह तरह की दुआएं मांगता रहा अल्लाह मुझे घर दे दे अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे अल्लाह इल्म दे दे अल्लाह लिखना सिखा दे अल्लाह बोलना सिखा दे अल्लाह तकवा दे अल्लाह हाथ पकड़ अल्लाह रास्ता दिखा अल्लाह रसुआ ना करना और पता नहीं क्या क्या उम्र से फारिग होकर अब्दुल्ला मदीना मुनर्रा रह गया वहाँ रोज़ा मुबारक में दिल को बड़ा सुकून मिला यू भी रमज़ान की ताक रातें थी अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो सके अब्दुल्ला ने अपनी पहली नात भी यही कही और दिन रात जियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करता रहा मगर वो ना हुई उम्रे से वापस आकर अब्दुल्ला ने अपने आप और घर वालों पर काम शुरू कर दिया और दुनिया से तकरीबन लातालुक हो गया दोस्त तो एहबाब कम होते चले गए अमीन भाई और अहमद साहब से कभी कभार मुलाकात हो जाती एक दर्द का एहसास था जो अब्दुल्ला को होता और वो उनसे भी दूर होता चला गया बात ये नहीं थी कि वो जो कुछ पढ़ा रहे थे वो गलत था खुद अब्दुल्ला को उसने बड़ा फायदा पहुंचाया सोग उस बात का था कि ऐसे बड़े लोगों से सीखकर भी अब्दुल्ला कोरा रह गया वो कुएं से भी प्यासा आ गया उसने सही लोगों से भी गलत चीज सीख ली और जो इल्म उसे मिला वो उसे बरतना ना आया जब भी इन कोर्सेज का ख्याल आता अब्दुल्ला को अपने अंदर मौजूद मैं याद आ जाती और वो तकलीफ से आंखें बंद कर लेता जब कभी जॉब या कोई और मसला पेश आता अब्दुल्ला मुफ्ती साहब के पास पहुंच जाता और वो कोई ना कोई तसली बख्श जवाब दे देते एक दिन अब्दुल्ला ने पूछा कि इसे ही क्यों इतनी परेशानियां आती हैं एक दुनिया है जो मस्त है खुशो खुरम है इसी के दिल को चैन क्यों नहीं आता ये सर फटोल किस्म के लोग इसे ही नसीब में क्यों मिलते हैं मुफ्ती साहब ने थीमे से जव, लहजे में जवाब दिया अब्दुल्ला हम मरीजों के माशरे में जिंदा हैं हतुल इम्कान सबर किया करो इस माशरे में सच बोलने की जक़ात तन्हाई है कोई जानवर पाल लो कहते सुनने को कोई तो हो पास में अभी अब्दुल्ला की जिंदगी में कुछ ठहराव आ ही रहा था कि उसे अमेरिका से एक फेलोशिप और मिल गई दो माँ के लिए वो खुशी खुशी किया और दर्जनों मीटिंग्स की इस बार इसने अमेरिका को एक नए रंग से देखा वो ये जानने की कोशिश करता रहा कि वर्ल्ड क्लास इदारे बनते कैसे हैं वो कौन सी सोच कौन से लोग होते हैं जो इनकी बुनियाद रखती हैं वो दर्जनों थिंक टैंक्स में गया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के सरबराहान से मिला एक से बढ़कर एक विजनरी बंदे से मिला उसे एहसास हुआ कि अगर बड़ा काम करना है तो दुनिया से अच्छाई या तारीफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और सर झुका के काम करना चाहिए अब्दुल्ला फेलोशिप से वापस आया और जॉब से इस्तीफा दे दिया अब की बार तो बिल्लो भी परेशान हो गई कि क्या होगा यूनिवर्सिटी वो छोड़ चुका था और कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी दिल उचाट हो गया अब्दुल्ला अब क्या करोगे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा गाड़ी भी नहीं रहेगी घर भी और कोई सेविंग्स भी नहीं है जितना पैसा कमाया तुमने सब लगा दिया पढ़ाई किताबों और सिरा नर्दी में बिल्लो ये नौ से पांच वाली जॉब ख्वाबों की सबसे बड़ी दुश्मन है हम अपनी कंपनी खोलेंगे अपनी मर्जी का काम करेंगे इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे कि दो वक्त की रोटी खा सके हम दिन रात को मिक्स कर देंगे तू तैयारी पकड़ आज रत जुगा है अल्लाह साईं थक गया हूँ लोगों की गुलामी करते करते किसी और के विजन पर काम करते करते आज से तू मेरा सीईओ e बन जा और कोई अच्छा सा काम ले ले कि मेरी दुनिया और दीन दोनों सवर जाए अब्दुल्ला ने शहर में कैलोरीज के मुताबिक बर्गर की दुकान खोल ली बिल्लो ने बड़ा समझाया कि दुनिया हंसे की पीएचडी करके बर्गर बेच रहे हो मगर अब्दुल्ला ने एक ना सुनी कहने लगा बिल्लो दिल में एक बड़ा कब्रिस्तान बनाकर कुल जहां को एक ही बार दफना दो और फौतिया पढ़ लो ताकि आज के बाद किसी की तारीफ से कोई फर्क ना पड़े ना बुराई से दुकान तो खुल गई मगर गैस ना लग सकी रिश्वत के बगैर इस मुल्क में कोई काम मुश्किल से ही हो पाता है कभी सरेंडर दस्तयाब तो कभी नहीं कुछ ही महीनों में अब्दुल्ला को दुकान बंद करनी पड़ी और नुकसान अलग हुआ अब की बार बिल्लो ने सोचा कि कपड़ों का बोतीक करें ये काम अच्छा चल निकला मगर कुछ ही माह में मैनेजर पैसे लेकर भाग गया और अब्दुल्ला और बिल्लो फिर रोड पर बिल्लो ने हंसते हुए अब्दुल्ला से कहा आपके अब्बू ठीक ही कहते थे पता नहीं किस फकीर की बदुआ है तुम्हारा कोई काम नहीं चलता एक मुसलसल गर्दाब है जिसमें फंसे रहते हैं अब्दुल्ला ने हंस के जवाब दिया कि बिल्लो जिंदगी नामी हिम्मत और मोहब्बत का है कम हिम्मत लोगों को मर जाना चाहिए ताकि हिम्मत वाले रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें तू गम ना कर बच्चों का स्कूल छूट चुका था गाड़ी बिक चुकी थी और कोई राह सुझाई ना देती थी आज अब्दुल्ला ने फिर तक चुका करना था या अल्लाह फिर से नाकाम हो गया अब तो नया काम करने के भी पैसे नहीं हैं। अब तक बिल्लो ने बड़ा साथ दिया है वो भी परेशान है बच्चों की पढ़ाई भी छूट चुकी है तू ही है तेरे सिवा किसी से ना मांगूंगा तू ही मदद कर अब्दुल्ला ने अगले हफ्ते सॉफ्टवेयर हाउस डेवलपमेंट की कंपनी खोल ली इस काम में उसका नाम भी था और वो माहिर भी था कुछ काम मिलना शुरू हो गया अब्दुल्ला ने एक बार फिर दिन और रात का फर्क बाकी ना रखा और कंपनी देखते ही देखते तरक्की करती चली गई उसे एक सरमाकार से न्यूगल फंडिंग भी मिल गई और सिर्फ एक साल के अरसे में अब्दुल्ला का अपना घर अपनी गाड़ी भी हो गई और बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू हो गया माशी फरागत नसीब हुई तो अब्दुल्ला की तवज्जो फिर जिक्र असकार की तरफ आई और रमजान में मुफ्ती साहब के साथ इतकाफ में बैठने का इरादा रखता था कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो तो। आज अब्दुल्ला की मुलाकात मुल्क के एक मायानाज सहाफ़ी से हुई अब्दुल्ला ने उनसे पूछा कि वो लिखना चाहता है कोई मदद करें उन्होंने जवाब में अब्दुल्ला की उम्र पूछी पैंतीस साल आप ये ख्याल छोड़ दें सहाफ़ी ने फैसला सुनाया क्योंकि अगर आप में लिखने का हुनर होता तो अब तक दुनिया आपका नाम जान चुकी होती देखिए मैं दुनिया के 200 सौ ममालिक खूमा हूँ मैंने आपका नाम नहीं सुना इसका मतलब है कि सहाफत क्या आपने दुनिया के किसी फील्ड में भी कामयाबी हासिल नहीं की और ना आइंदा कर सकते हैं 35 साल एक लंबी उम्र होती है कुछ कर दिखाने के लिए आप क्या करते रहे हैं आपका विजन क्या है अगर कोई है तो अब्दुल्ला ने जवाबन कहा जी कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान बन जाऊं बंदा बन जाऊं बस और कुछ नहीं इतने में सहाफी के साथ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने सवाल छाड़ा अरे आप वही अब्दुल्ला तो नहीं जो सेनेटर स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए थे अभी हाल में एक और फेलोशिप करके आए हैं जी हाँ मैं वही हूँ आप तो गद्दार हैं अमेरिका के एजेंट हैं ये कतन गैर मुतवक्का वार था अब्दुल्ला ने बामुश्किल तमाम अपने गुस्से को संभाला और धीमी आवाज से कहा माशाल्लाह आपकी इन मालूम का माखिस क्या है फला मौलवी साहब ने एक मजलिस में ये बात कही थी बात आई गई हो गई अब्दुल्ला मौलवी साहब से ना सिर्फ मिल चुका था बल्कि इन्हें जानता भी था अगले दिन अब्दुल्ला उनकी रिहाइश पर पहुंच गया सलाम दुआ के बाद अब्दुल्ला ने अर्ज की हजरत ये वाकया हुआ है मैंने सोचा बजाय इसके कि कोई बदगुमानी रखूं डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं मौलवी साहब गोया हुए नहीं भाई हमने तो सिर्फ ये कहा था कि डॉक्टर अब्दुल्ला की पर्सनालिटी पर तश्वीश है बाकी बातें दुनिया ने खुद ही लगा ली अमूमी तौर पर जीन्स जैकेट पहनने वालों को मजहबी तबके में अच्छा नहीं समझा जाता वो लड़कियों वगैरह के चक्कर में रहती हैं जो बार बार अमेरिका जाए वो शराब से कहाँ बच पाते हैं अरे हजरत तो जानी हो गया शराबी हो गया गद्दार और अमेरिकी एजेंट कैसे हुआ जाने दो अब्दुल्ला बहुत सी बातें अगर ना कहें तो उठा लिए जाएंगे तुम्हें इन बारीकियों का नहीं पता वतन की मोहब्बत के सबूत के तौर पर गैरों की बुराई लाजमी होती है जी हजरत सच कहा उठाए तो एक दिन सब ही जाएंगे और बड़ा ही सख्त दिन होगा वो ठीक है वहीं मिलते हैं और अब्दुल्ला दिल पर एक जख्म और सच्चाई वापस आ गया